विश्वामित्र भरद्वाज कश्यप भार्गव भारदृश्य मोमस तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए प्रचुप्त दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए इसी समय महा महान क्रोधी दुर्वासा जी यमराज चित्रगुप्त काल और मृत्यु भी आए उस यज्ञ में उनके लिए कोई भाग नहीं दिया यह देखकर ये सभी कुपित हो उठे उन सबको रुष्ट देखकर राजा रविचंद्र ने कहा यज्ञ के समय में कोई मनुष्य भी आ जाए तो वह चार भुजाधारी भगवान भगवान विष्णु के समान पूजने होता है आप लोगों को भी मैं अभिष्ट वस्तु दूंगा अतः प्रसन्न हो इस प्रकार राजा के द्वारा अर्घ पाद आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सब मुनि संतुष्ट हुए उस समय दुर्वासा जी ने कहा राजन पूर्व काल में जटा और वलकल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्तिभाव से पूजा करते थे परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को शाप दिया तुम लोग एक सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे तब से वे मुनिश्रेष्ठ लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं राजन हमारा प्रिय करने की इच्छा से तुम उन सब को शाप से मुक्त कर दो राजा बोले मैं उन ब्राह्मणों को उस साप से मुक्त करूंगा ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में धन में भेजा दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया तब वे सब लोग अशोक वनिका में आए उन सब को देखकर चक्रवर्ती राजा रविचंद्र ने बड़ी प्रसन्नता से प्रसन्नता के साथ कहा भगवान अशोक के ईश्वर एवं नर्मदा देवी तथा महिमा से मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से सब मुनि कुत्ते की उन्हें त्याग कर शिवलोक में चले जाए और इन सब का पाप मुझ में आ जाए राजा के ऐसा कहते ही वे सब मुनि लक्ष्मण साप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले आप ही हमारे माता पिता और मोक्ष दाता गुरु हैं ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा हुई उस समय दुर्वासा जड़ित कहा महाराज क्षेत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को ना तो देखा है और ना सुना ही है मनुष्य के लिए अपने प्राणों को त्याग देना तो सूकर है परंतु अपने सचित धर्म का त्याग करना बहुत ही कठिन है तुम्हारा कल्याण हो तुम कोई वर मांगो तब राजा हंसते हुए बोले मुने हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो यही मेरा प्रिय वर है एम वस्तु ऐसा ही होगा यह कहकर मुनिवर दुर्वासा वहीं अंतर्ध्यान हो गए अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा राजन मैं तुम्हें वर देता हूँ जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया उसने यमलोक और परलोक देवलोक को भी जीत लिया है राजेंद्र तुम अवश्य वर पाने के योग्य हो रविश्चंद्र बोले सूर्य नंदन मेरे सो यज्ञ दा दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिव धाम को प्राप्त हो जाएं जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं मैं इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूँ आप मुझ पर कृपा करें यमराज ने कहा सत्य धर्म का पालन करने वाले राजेंद्र तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो सुव्रत इच्छा राजन तुमने जिन सैकड़ों क्षेत्रियों और सहस्त्रों नंदाजीवों का पाप से उद्धार किया है उन सब की कोई गणना नहीं है ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए वागीश्वर तीर्थ में राजा ब्रह्म तक के यज्ञ में प्रेतों का उद्धार तथा सहस्त्रावर्त आदि तीर्थों की महिमा मार्कंडे जी कहते हैं नर्मदा के उत्तर तट पर वागीश्वर नामक एक पुर है वहां वागु नाम वाली नदी नर्मदा के साथ मिली है उस संगम में जो स्नान करते वे स्वर्ग को जाते और जो मरते वे मुक्त हो जाते वहां दानवों का विनाश विनाश करने वाली वागीशा चामुंडा रहती है मणिभद्र और वीरभद्र आदि सैकड़ों राजा उस तीर्थ के प्रभाव से शाप मुक्त हुए वहां तिल सहित पिंडदान करने से पितर को उत्तम गति प्राप्त होती है सूर्यवश में अयोध्या के चक्रवर्ती राजा धर्मदत्त प्रसिद्ध वे धन धान्य से संपन्न तथा भय और दरिद्रता से रहित थे उनके शासन काल में समस्त प्रजा बड़े आनंद से रहती थी उन्होंने नर्मदा और वाकु के संगम में एक श्रेष्ठ यज्ञ किया था जिसमें ब्रह्मा इंद्र विष्णु गणेश तथा महादेव जी आदि ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया राजा ब्रह्म तक की की यज्ञ भूमि दस योजन तक फैली हुई थी उनका यज्ञ यज्ञ स्वारोचित मनवंतक के आदि कल्प वाले सत्ययुग में हुआ था उस समय ब्रह्मदत्त के यज्ञ तथा वागीश्वर और नर्मदा के प्रसाद से प्रेतों को भी बड़ी तृप्ति हुई वे प्रेत पहले के वानप्रस्थ ऋषि थे उन्होंने स्त्रियों के आग्रह से सुग्रहण सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत सा दान दिया था इसी से वे प्रेत भाव को प्राप्त हुए थे प्रेत होने पर भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा अतः एकांत में बैठकर वे अपने विषयों में इस प्रकार शोक करने लगे आहो जिनके लिए हमने पतिग्रह स्वीकार किया वे हमारे पुत्र पत्नी भैत्र और भाई बंधु तो जो ही थे क्योंकि तुम बने हुए थे वे उस पतिग्रह की आग में दग्ध नहीं हुए हैं हमें अकेले ही उस आग में जलना पड़ा है यमदूतों से पकड़े हुए प्राणियों के साथ उनके माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र और धन धान्य आदि नहीं जाते एकमात्र धर्म ही उसका साथ देता है इस प्रकार दीर्घ काल तक शोक करके स्त्री पुत्र से रहित हुए वे प्रेतगण सारी पृथ्वी पर घूम घुमाकर नारद जी के उपदेश से उमापति शिव का ध्यान करते हुए उसी बागीश्वरपुर में चले आए वहां स्नान करके उन्होंने भगवान शिव विष्णु और सूर्य देव का पूजन किया ब्रह्म तक के उस यज्ञ में आकर वे सभी पाप मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी के लोक में गए तदंतर राजा मृतक तक के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी मार्कंड जी कहते हैं युधिष्ठर प्रतिग्रह एक भारी ग्रह है जो लोभ और मोह से मोहित हो उस ग्रह से ग्रस्त हो गए वे घोर नरक में डूबते हैं यद्यपि विदुक्त यज्ञ और तीर्थ का आदि सत्कर्म भी सफल होता है उनके द्वारा सदगति में सहायता मिलती है तथापि प्रतिग्रह दान देने वाले मनुष्य अपने आत्मा को कलेश देते दान दाता याचक की यति गति इसकी सूचना उनके हाथों से ही मिल जाती है तथा देने वाला ऊपर को जाता और लेने वाला नीचे को शास्त्र वर्तक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है वहाँ विधि पूर्वक स्नान करने वाले पुरुषों को वर्षोत्सर्ग का फल प्राप्त होता है और वह अपनी सात पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है नर्मदा के उत्तर तट पर यह तीर्थ सहस्त्र धनुष तक फैला हुआ है उस उसके अंत में कारा का उत्तम वन है कहा स्नान करने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता और मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता नर्मदा के उत्तर भाग में सुगंधित नामक परम सुंदर वन है जिसमें प्रवेश करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तदंतर नदियों में उत्तम सरस्वती नदी है उनके जल में स्नान करना चाहिए वहाँ देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य सुमेध यज्ञ का फल पाता है वही ईशानाधीश नामक परम दुर्लभ तीर्थ है नरश्रेष्ठ व्यतिपात योग संक्रांति और ग्रहण के समय उस उस उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र कपिला गो सुगंधित पदार्थ और स्वर्ण के दान का तथा पंच यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है भारत वही त्रिशूल नामक तीर्थ है वहां जाकर जो स्नान और देवता पितरों का पूजन करता वह भी देह त्याग के पश्चात गणपति पद को प्राप्त होता है युधिष्ठर नर्मदा के उत्तर तट पर भूमुदक नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो इच्छा अनुसार भोग एवं फल देने वाला है यहाँ पर श्राद्ध का दान देने से पितर ब्रह्मलोक में जाते हैं नर्मदा के उत्तर भाग में अत्यंत उत्तम सोम तीर्थ है वहां स्नान करके मनुष्य लोक में सम्मानित होता है